बात होती समाज की परंपरा ये हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पहीतम् सज्जनों मातृशक्ति ईश्वर की महती कृपा से आज हमने उत्तम कार्यों का संपादन किया आज आपने अपनी उपलब्धियां सुनाई और संकल्प भी लिए संकल्पों के आधार पर व्यक्ति महान बनता है जो व्यक्ति ये जानता है कि व्रतों का पालन करना अनिवार्य है बिना व्रतों के पालन किए कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं बन सकता वह श्रद्धा पूर्वक विविध प्रकार के कष्ट उठा करके भी उनका पालन करता है आगे बढ़ता है वो अंतिम निर्णय ये निकालता है कि यदि अच्छे काम का जो संकल्प लिया है मैंने और उसको यदि मरना पड़े तो मरने की बात कोई बुरी नहीं है ऐसा सोचने लगता एक सोचने का ढंग है पद्धति है तुलना कीजिए एक व्यक्ति ने ये व्रत लिया संकल्प किया कि मैं सत्य ही बोलूंगा और उस सत्य बोलने पर उसकी मृत्यु आ रही हो सत्य बोलने से मृत्यु होने वाली हो तो हो सकता है वो ये सोचे कि अपने प्राणों को बचाने के लिए झूठ ही क्यों न बोल दिया जाए बुद्धिमान व्यक्ति विपक्ष में सोचता है कल्पना करता है कि मान लीजिए मैंने झूठ भी बोल दिया तो क्या प्राण मेरे बच जाएंगे ये प्रश्न उठाता है एक और प्रश्न उठाता है आज प्राण बच गए हैं झूठ बोलने से तो क्या सदा जीवित रहूंगा मैं झूठ बोलता हुआ एक दिन प्राण नहीं जाएंगे क्या ये भी विचार सामने निश्चित रूपेण आता जब अपनी बुद्धि में उभरे हुए प्रश्नों का उत्तर देता है व्यक्ति तब वो सत्यवादी बनता है ये प्रश्न उभर के आते आएंगे व्रतों में से एक व्रत है सत्य का अनेक व्रत हैं और दो विचारधाराओं की टक्कर है बड़ी भारी एक अवसरवाद है एक आदर्शवाद है इनकी टक्कर पहले भी रही है आज भी है और आगे भी रही है जो जी नींद आ रही हो तो बीच में पूछता रहूं कौन से पक्षों की टक्कर है अवसरवाद की और आदर्शवाद की इनकी परिभाषा क्या बनेगी अवसरवादी वो व्यक्ति है जहां जहां लाभ होता है वहां वहां झूठ बोलता जाता है जैसा जैसा अवसर आता है वैसा वैसा परिवर्तन करता जाता है देखो विद्वानों से प्रश्न नहीं पूछूंगा दूसरे साधकों से पूछूंगा तो आप में से अवसरवादी कौन कौन है अब दूसरे के मुंह की ओर देखते हैं अच्छा ये जो हाथ खड़े नहीं करे सारे के सारे आदर्शवादी हैं अर्थापत्ति से तो भाई दर्शनों का पढ़ने का लाभ तो यही है अच्छा अब देखिए आदर्शवादी कौन कौन है असल अब ये डर गए होंगे असल में इनके दिमाग में एक बात आ गई है थोड़ी सी वो बीच में आगे घुस गई और पता नहीं चला वो क्या थी सिद्धांत कौन सा अच्छा है <laughs> बात बात इनके दिमाग में आई है ना जो कौन सा सिद्धांत अच्छा है वो कहते आदर्शवाद अच्छा ये ऐसे खड़ा कर रहे होंगे सीधी बात जो पूछी गई है ना कि आप आदर्शवादी है या अवसरवादी इसको से आप कम पकड़ पाए अच्छा अपने आप को बुरा कोई कहना भी नहीं चाहता और सभा में बातचीत में प्राय एक आधी घटना को छोड़ दो वही व्यक्ति नहीं कहता मैं तो भाई मिथ्यावादी हूं मिथ्या बोलना ही ठीक समझता हूं <laughs> क्योंकि ऐसा तो चोर भी यह कहता है मैं बिल्कुल सत्य बोलता हूं जो बोलता हूं वो कहता मैं बिल्कुल सत्य बोलता हूं चोर डाकू हां मैं बिल्कुल सत्य बोलता हूं कचेरी में जाके आप ऐसे देखेंगे एक लेखक ने एक पुस्तक लिखी उसमें ये लिखा क्या महाभारत का एक श्लोक है प्राणों का संकट हो तो झूठ बोलो विवाह विवाह में झूठ बोलो विवाह में झूठ बोलने का विधान उसने किया है <laughs> हाँ जी तो और दूसरे के धन की रक्षा करनी हो झूठ बोलो धर्म की रक्षा करनी हो तो झूठ बोलो चार जगह तो मुझे याद आ गई पता नहीं चार यहां कितनी है अच्छा विवाह में भी झूठ बोलना जरूरी है भाई आप बताओ आपका विवाह तो भया हुआ जो विवाह वाले बताओ भाई <laughs> अरे अच्छा हाँ हाँ अच्छा अच्छा ये है वो अच्छा ये है वो बात हाँ तो लड़की में भी दोष होते हैं वो झूठ बोलता नहीं है और लड़के में भी दोष होते हैं वो भी झूठ बोलता नहीं है ये झूठ होगा तो फिर यही होगा ना हां तो बात देखो ध्यान देने की बात है संसार इन दो विभागों में बटा हुआ है सारा एक अवसरवादी है एक आदर्शवादी है दो की टक्कर ऐसी थी आज आदर्शवाद इतना कम हो गया है इतना कम हो गया है लाख में आगे चलो तो करोड़ में जिस व्यक्ति की यह प्रतिज्ञा है मैं मर सकता हूं जीवन समाप्त हो सकता है संसार सारा मेरा मुझे विरुद्ध हो सकता है पर मैं सत्य ही बोलूंगा सत्य को नहीं छोड़ूंगा मुश्किल से करोड़ों की संख्या और अवसरवादी सारे शेष अब कई बार तुलना नहीं कर पाता व्यक्ति किस बात की तुलना तुलना दो पक्षों की होती है देखो एक निश्चित बात है जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो लाभ के लिए बोलता है और सत्य बोलता है तो लाभ के लिए बोलता है संसार में कोई भी काम व्यक्ति करता है अपनी बुद्धि की तुलना से से वो लाभ के लिए करता है और झूठ बोलने से लाभ मानती है दुनिया इसलिए झूठ बोलती है ये निश्चित है अच्छा ये निषिद्ध कर दिया जाए कि झूठ बोलने से हानि होती है और सत्य बोलने से लाभ तो क्या आप सत्य बोलोगे फिर अब तो तैयार हो, हो जाओगे ना है जी नहीं नहीं जब स्वभाव से यह सिद्ध बात है कि भाई लाभ का पक्ष सबके लिए ग्राह्य है तो ये तो फिर मान लेना चाहिए फिर क्यों हटता करते हो आप ये सिद्ध कर दिया जाए कि सत्य बोलने से लाभ होता है और झूठ बोलने से हानि तब तो स्वीकार कर लेना चाहिए तो ध्यान देना देखो एक तो निर्णय करना होता है शब्द प्रमाण से एक अनुमान प्रमाण से और एक प्रत्यक्ष प्रमाण से ये निर्णय करते हैं उनका कोई बात जब हमारे सामने उपस्थित होगी तो निर्णय के लिए तो प्रमाण उपस्थित होंगे बिना परमाणु के कोई बात नहीं अच्छा देखो थोड़ा सा मैं प्रमाण की बात कहता हूं सत्यार्थ प्रकाश में जो ऋषि दानंद ने लिखा ऐसा लिखा है लगभग शब्द है कोई शब्द इधर उधर हो कि जो व्यक्ति एक बार किसी के सामने झूठ बोल देता है एक बार चोरी जारी मिथ्या भाषण कर देता है वो जीवन भर विश्वास का पात्र नहीं बनता जीवन भर उसका विश्वास समाप्त ये परिणाम है जीवन भर आप एक बार झूठ बोल दोगे तो जीवन भर विश्वास समाप्त हो गया तो बताओ क्या लाभ हुआ तुलना कर लो अच्छा घरों में पति पत्नी भी झूठ बोलते हैं आजकल आप जानते होंगे आप तो नहीं जानते योगेंद्र सिंह जी आप ही बताओ बोलते हैं नहीं बोलते हमने तो जो परीक्षण किए है ना सौ में से एक घर ऐसा नहीं मिलेगा जो पति पत्नी सदा सत्य बोलते हो जानबूझ के बताओ वो तो एक सौ में से एक नहीं मिलेगा मेरा परीक्षण तो ऐसा है सौ में से एक घर ऐसा नहीं मिलेगा वो आप हजार में आते होंगे तो <laughs> सौ की बात कर रहा हूं मैं एक हजार में हमको कितने व्यक्ति चाहिए दस चाहिए देखिए कम से कम दस तो चाहिए ना हाँ सौ में से एक जब बनेगा एक हजार में से दस व्यक्ति जब हो तब तो सौ में से एक हो गया नहीं तो नहीं होगा अच्छा ये पति पत्नी क्यों जुड़ बोलते हैं इनका दिमाग में यह लाभ होता है यही बात और कुछ नहीं है ये इसलिए झूठ बोलते बड़ा लाभ होता है इसे ऐसा मानते हैं ना इससे इतनी हानि होती है दो चार बार पति पत्नी झूठ बोलते हैं तो एक दूसरे का दूसरे का विश्वास खत्म हो जाता सदा के लिए सदा के लिए स्वभाव मैं करनाल में वेद प्रचार के लिए गया पढ़े लिखे दो पति पत्नी बुलाए हमारा काम है कि उपदेश देना चाहिए मैंने कहा बताओ आपस में कोई झगड़ा तो नहीं होता तो वो जो पति जी थे वो कहने के स्वामी जी बात ऐसी है कि झगड़ा तो लगातार चल रहा है कितने दिनों से कि लगभग 11 वर्ष हो गए भी वो संस्कार हुए लगातार झगड़ा चल रहा है मैंने कहा कारण क्या है वो कहते कारण ये है मेरी पत्नी जो है झूठ बोलती है कारण ये है झगड़े का कारण मैंने कहा उदाहरण जो कोई थोड़ा सा उदाहरण थोड़ा सा गंभीर दूंगा मैं मैंने कहा कैसे कैसे क्या प्रचार के लिए जाती है प्रोफेसर है और मैं कहता हूं इसका आचरण जो इसमें कुछ दोष है और वो कहते हैं नहीं स्वामी जी दोष बिल्कुल नहीं वो क्यों नहीं उसकी बात मान लेता एक बार वाणी से कहने के पश्चात क्यों नहीं मान लेता वो झूठ बोलता है आप याद रखना एक मास में एक बार झूठ बोलो या छोड़ो एक वर्ष में चार बार झूठ बोल दो और सदा सत्य बोलते रहो वो सारा एक वर्ष का सत्य जो है चार बार के झूठ से चौपट हो जाएगा बताओ होगा नहीं होगा होगा या नहीं होगा अब ये लोग कहते लाभ होता है लाभ कहां होता है इस झूठ ने आजकल संसार को मनुष्यपन से समाप्त कर दिया इतना भयंकर बढ़ गया है इतनी झूठ बढ़ी है इतनी झूठ बढ़ी है आप जानते ही होंगे बस उसो राम कभी जाते हैं ना ये और कचहरियों की ओर और, और सरकारी विभागों की ओर बस नीचे से लेकर के ऊपर तक सत्य का नाम लेने वाला व्यक्ति मिलना मुश्किल है अच्छा एक घटना और आती है उसके ऊपर बड़ा वाद विवाद चलता है हैं जी वो क्या है वो कहते हैं देखो जी एक व्यक्ति सत्यवादी है और एक गौवाई भागती हुई और आगे दो तीन सड़कें हैं अलग अलग तो वो क्या करेगा ये दृष्टान दिया जाता है क्यों जी सदानंद जी नींद तो नहीं आ रही है जी तो ये दृष्टांत दिया जाता है अब दृष्टांत है ये कल्पना करो कि एक सत्यवादी व्यक्ति बैठा है चौराहे पर और गऊ भागती हुई आई पीछे कसाई है आठ दस खूब अस्तर शस्त्र ले हुए आप बताओ वो क्या कहे ये संकट है आएगा ये संकट तो कभी भी आता है सदा तो नहीं आता कभी कभी आता है वैसे ये सामान्य बात नहीं है ये अपवाद का रूप है साधारण दृष्टांत होते हैं वैसे लोक में प्रसिद्ध ये अपवाद के रूप में कभी कभी आता है तो कल्पना कीजिए ईश्वर से गऊ आई या तीन चार सड़कें फट गई अलग अलग सत्यवादी यहां बैठा है और उसने कसाइयों ने पूछा बताओ गऊ कहां गई एक कहने लगा जी बता देना चाहिए गऊ की सड़क गई कह देना चाहिए सत्य बात है फिर दूसरा कहने का नहीं उसको यह कह देना चाहिए मैंने नहीं देखी कितने पक्ष हो गए तीसरा कहने का यह ठीक नहीं है गई ईश्वर है बता देना चाहिए ईश्वर दमसरा की ओर कितने हो गए चौथा कहने का नहीं चुप हो जाना चाहिए मौन बोल कुछ नहीं बोला था फिर पांचवा कहने का नहीं ये कहना चाहिए मैं जानता हूं नहीं बताऊंगा कितने हो गए और फिर सजा कहने का नहीं वो ये कह दे जिसने देखा वो बोल नहीं सकती जो बोलती उसने देखा नहीं भाई इतना मोटा बोलने में विक्रमसन माई तो रोटियों का पेट भर फिर तो लटका गया होगा फिर तो समझ में कैसे आती है आंखों को यूं फाड़ते हैं जैसे कि <laughs> लड़ने वाले हैं वहां नींद आती है ना जो नींद वो यूं फाड़ फाड़ के देखने लगता है <laughs> अच्छा छठा पक्ष में नहीं आया आपको अजय जो नहीं आया वो समझ लेना दूसरे से नहीं ऐसा उसने कहा जिसने देखा है वो बोल नहीं सकती और जो बोल सकती है उसने देखा नहीं है आगे ने बात समझ नहीं आई अच्छा देखो एक एक बात है उसको जैसा का तैसा बता दिया जाए जो का तू तो इसको कौन मानता हाथ खड़ा करो ना ना बस एक मत बोलू उसी के हां नाम है अब आप में से तो कोई नहीं दिख रहा ना हाथ कथा सुनो बेटे हाँ सुनाई थी तो जी हाँ नहीं नहीं वो तो बात ठीक है ये पक्ष उभर के आते हैं अब आपने सुना भी है जो नए आए हैं उन्होंने कम कम सुना होगा और इन बातों को जितनी सुनो उतनी कम आई है अब जब सीधा उसको बता देते हैं तो ये दोष आएगा कि उसने बतला दिया सहायता दे दी वो मारी जाएगी गऊ एक तो ये हो गया हो गया ही दूसरे पक्ष में वो ये कहे मैंने देखी ही नहीं तो क्या हो जाएगा झूठ हो जाएगा और ये गई इस सड़क से अरे बताए दूसरा की ओर तो क्या हो जाएगा अब मौन रहे तो ठीक है ना और कई बार मौन नहीं रहने देते वो छुरा मारेंगे उसको ये भी तो याद रख लो छुराते ही याद रोंगटे खड़े हो जाएंगे तो इस प्रकार से मौन रहना एक पक्ष है और कभी कभी उसको बोलना ही पड़ जाता है तो फिर ये आता है कि भाई मैं जानता हूं ये बुरा काम है नहीं बताना ये पक्ष आता है कौन भाग जाए ये दृष्टांत उसका नहीं है वो नहीं जाने देंगे ये चक्कर में आ चुका है ये व्यक्ति पूरा भाग जाए तो फिर बात ही कह क्या थी अच्छा देखो एक ध्यान देने की बात है जो ये कहता है कि उन्होंने गऊ को नहीं देखा और गौ बच जाएगी ध्यान देना क्या ये सिद्ध पक्ष है वो उसको मान लेगा कि उसके कहने से क्या सिद्ध पक्ष है क्या ये जो लोग ये समझ लेते हैं ना वो कहेगा कि मैंने गऊ नहीं देखी इतना कहने से मान लेंगे ये सिद्ध नहीं है और गई ईश्वर कहेगा ईश्वर इसको वो मान लेंगे ये भी सिद्ध नहीं है जो सिद्ध नहीं होता उसका दृष्टांत नहीं होता और आगे चलो अच्छा यदि थोड़ा बहुत तो मानेंगे तो उसका आधार क्या है उसका आधार भी सत्य ही है तो ऐसे पक्ष सामने आते हैं और इन पक्षों में मौन वाला पक्ष है फिर बिल्कुल बोलना सत्य है मिर्मिटने के लिए तैयार हो जाना है ये पक्ष अंत में रहते हैं तो आप याद रखें कई बार ऐसा होता है उसने झूठ भी बोल दिया और परिणाम क्या निकलेगा उसको मार भी दिया फिर दोनों दोनों बातें साथ हो जाएगी तो ध्यान देने की बात यह है कि ये जो अवसरवाद है अवसरवादियों का जो पक्ष है वस्तुतः ये व्यवहार में भी दुखदायक है और योग में भी पूरा बाधक है इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बात लिखी है कि लौकिक सुख और मुक्ति का सुख सत्य से मिलता है दोनों सुखों का कारण सत्य है ऐसा लिखा है एक प्रश्न सामने आता है कई बार झंझट में आ जाता है व्यक्ति कई राजनीति के उदाहरण भी दिए जाते हैं ध्यान देना उसमें यह सार निकालना चाहिए वस्तुतः धर्म तो सत्य बोलना ही है और व्यक्ति झूठ जो बोलता है वो उसकी कमजोरी देखो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा कभी आपने शंकराचार्य जी ने जैनीय से शास्त्रार्थ किया किसे किया सुधनवा राजा थे सुधनवा राजा से वो मिले और जब भयंकर वेद के विरुद्ध प्रचार हो रहा था वेदों को खत्म करो वर्णाश्रम को समाप्त कर दो ये जो परंपरा चलती आ रही थी तो शंकराचार्य ने देखा अहो ये क्या हुआ उन्होंने विचारते विचारते ये विचार किया कि वो जैन मत को मानने वाले थे सुधनवा राजा उन्होंने कहा कि आप हमारा और जैनियों का शास्त्रार्थ करवाओ और जो हार जाएगा वो दूसरे के मत को स्वीकार कर लेगा सुधनवा राजा बुद्धिमान थे कुछ समझदार थे उन्होंने स्वीकार कर लिया और जैनियों का और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ चला तो शंकराचार्य जी का मत था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या अद्वैतवाद और जैनियों का मत था जीव और प्रकृति दो पदार्थ है ईश्वर कोई चीज नहीं है इसमें शंकराचार्य जी जीत गए और जैनी लोग हार गए तो स्वामी दान जी ने क्या बात कही यदि जैनियों को हराने के लिए यदि शंकराचार्य जी ने यह मत स्वीकार किया हो तो कुछ अच्छा है वास्तव में अच्छा नहीं ये सिद्धांत है वैदिक ये दिमाग यदि दुनिया का होता तो इतना झूठ नहीं बोलती दुनिया फिर से सुनो यदि शंकराचार्य जी ने जैनियों को हराने के लिए इस मत को स्वीकार किया हो तो कुछ अच्छा है वास्तव में अच्छा नहीं है आगे प्रकरण में सुनिए कुछ स्वार्थी विद्वान इसी प्रकरण में कुछ स्वार्थी विद्वान शास्त्रार्थ में संवाद में अपनी प्रतिज्ञा को बदल देते हैं आरते दिखते तो छोड़ देते हैं एक है तो थोड़ा सा घृणासी का दृष्टांत फिर देना पड़ जाए शायद दू में आपको नाक तो नहीं सुकड़ोगे हाँ जी <laughs> बताते पंडित देलवी जी कहा करते थे मैंने उनका प्रवचन सुना था पर इस विषय में लोगों ने बताया मुझे इसकी व्याख्या करते थे वो कुछ अच्छा है इसकी व्याख्या करते थे बोलो जी ये शंकराचार्य वाला कुछ अच्छा है उन्होंने कहा कुछ अच्छा का अर्थ कर करना दो व्यक्ति ने टट्टी कर दी शौच चले गए चले गए एक ने तो पेशाब से हाथ धो लिए और दूसरे ने पेशाब से ना धोए तो पेशाब से धोने वाला न धोने वाले से कुछ अच्छा है <laughs> कैसा लगे आपको कुछ अच्छा का यही अर्थ है कुछ अच्छा है तो इसलिए जहां पर ये आती है जितनी घटना सबकी तुलना इससे होगी वो वास्तव में अच्छा नहीं है कुछ अच्छा है तो ऐसा समझना अब सभी व्रतों के इस विषय में आप समझना ध्यान देना संकल्प के चलो ये तो सत्य की बात मैंने आपको सुनाई प्रत्येक धर्म के संबंध में प्रत्येक कर्तव्य के संबंध में व्यक्ति संकल्प लेकर चलता है व्रत लेकर चलता है और वर्षों तक टक्कर लेता है अपने विचारों से और जूझता रहता है वर्षों तक युद्ध करता रहता है वो व्यक्ति वास्तव में अपनी बुराइयों को अधर्म को अन्याय को अंदर से उखाड़ के बाहर फेंक देता दूसरा व्यक्ति नहीं फेंक सकता भले ही वो अपने आप को पवित्र मानता रहे अपने को पुण्यात्मा मानता रहे कदापि नहीं होगा एड़ी से चोटी तक का जोर लगाएगा जो व्यक्ति उसके लिए नियम ही सब कुछ है उसको तोड़ना नहीं चाहता बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहता मन वाणी और शरीर से वो तीनों से एक एक तांता बनाना चाहता है इससे एक दृष्टांत श्लोक में आता है महात्मा का लक्षण क्या आता है और दुरात्मा का लक्षण क्या है वो मनसी अन्यत है जी वचसी अन्यत कर्मणी अन्यत दुरात्मा नाम क्या हो गया जी बोलो मनसी अन्यत अन्यत का अर्थ दूसरा और वचसी अन्यत और कर्मणि अन्यत किसका दुरात्मा नाम ये दुरात्मा का लक्षण है आज कितने दुरात्मा बताओ है जी फिर उल्टा करो फिर ये महात्मा का लक्षण क्या है वचसी एकम मन मन से चलेंगे मन सी एकम वचसी एकम कर्मणी एकम महात्मा ना ये महात्मा का लक्षण है और ये दुरात्मा का लक्षण है अच्छा देखो आप बताओ महात्मा बनोगे या दुरात्मा कौन सा अच्छा लगता आपको तो महात्मा बनने के लिए तो ये टक्कर लेनी पड़े बस ये भौतिकवाद से काम नहीं चलेगा अब एक व्यक्ति सोचता है देखो जी बाल जो हैं हैं तो काटने अच्छे पर लोग ये कलर सा निकलवा लिया ये, क्या बुरा लगता है वो बाल ही नहीं कटवाएगा अब बताओ वो क्या व्रतों का पालन करेगा कुछ भी नहीं वो व्यक्ति तो ये देखता है मन में तो कुछ और है मन में तो यह है झुंड का झुंड फिरा है ना स्नान होता ना तेल लगता कटवा लेना चाहिए नहीं नहीं जैसे मुझे गंजा कहेंगे लोग इसलिए नहीं कटवाऊंगा क्योंकि ऐसा ही है ना अच्छा पेंट पहनते ना आजकल पेंट दो दो तीन तीन नंबर जूते की पैंट पैंट पर आई जाते हैं जूते को जूते की पैंट बनती है आजकल देखी नहीं आपने शौचालय में जाते हैं जूते के नीचे पैंट पहनी हुई और घिसरती है टट्टी में वही वही फिर भोजनालय में आ जाती है और इन माताओं की धोती होती है इतनी लंबी होती चर चार नीचे घिसरती है अच्छा ये उसको क्यों घिसराते हैं बताओ ये जानते हैं नहीं घिसराना चाहिए ये जानते ही से हानि है तो भी हमको असभ्य कहेंगे लोग ऐसा उनका दिमाग है तो देखो हम आत्मनिरीक्षण करें और हम दुरात्मा नहीं होना चाहते बिल्कुल नहीं और महात्मा बनना चाहते हैं तो आपको ये संकल्प लेके चलना पड़ेगा लंबे काल तक तपस्या करनी पड़ेगी पर याद रखिए मनुष्यपन इसी में है मनुष्य का जीवन सफल इसी में है हम इस पर इसलिए जोर देते हैं देना चाहिए मनुष्य सफल होता है तो केवल महात्मा बनने से ही होता है सत्य से ही होता है संकल्प से ही होता है दूसरा व्यक्ति माने न माने जाने न जाने संकल्प करे न करे दुनिया में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं मिलेगा जो झूठ पर चलता है कभी नहीं हुआ कोई भी जो व्यक्ति व्रतों का पालन करता है नियमों का पालन करता है उसको लौकिक सुख मिलता है और मुक्ति की प्राप्ति होती है जो व्यक्ति व्रतों का पालन नहीं करता वो व्यक्ति न तो लौकिक सुख को प्राप्त कर सकता न मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकता इसलिए हमको ऐसा बनना चाहिए यही ऋषियों का सिद्धांत है और आप और कल लेने वाले हैं व्रत वो लेके चले और हम हाँ, भले ही थोड़ी संख्या में भले ही हों परंतु जब व्रत लेके चलते हैं संकल्प लेके चलते हैं तो सारा संसार भी हमारे विरुद्ध के खड़ा हो जाए हम उल्टे ढलने वाले नहीं होते और दुनिया बदलती है अच्छा जी अब विराम हाँ जी अजी हाँ क्या पूछ रहे हैं हाँ मैं जानता हूं हम्म। हाँ क्या पर बात हो जाएगी हाँ हो सकती है बताना नहीं चाहता भी यही है नहीं बताऊंगा यही है हाँ ये ये एक ये बिल्कुल वो सत्य है जिसमें कि वो व्यक्ति इसको करे तो वो सत्यवादी ही माना जाएगा मैं जानता हूं नहीं बताता बुरा काम है हाँ ये तो अलग बात है ये तो अलग बात है वो सत्य है कि मैं जानता हूं और नहीं बताऊंगा बुरा काम है हां जी आपके घरों में जो संपत्ति होती है और कोई व्यक्ति आ जाए पूछने के लिए बताओ तुम्हारी संपत्ति कहां है तब आप क्या उत्तर देंगे तब भी तो यही कहेंगे मैं जानता हूं और मैं नहीं बताता वही उत्तर यहां पर दे देंगे तो अब शयनकालीन मंत्रों का उच्चारण होगा